प्रणाम ध्वनि ओ शिक्षकों की जिज्ञासा समाधान के क्रम में पहला प्रश्न है क्या संस्कार चित्त में पहले से विद्यमान रहते हैं या इनका बीजारोपण व्यक्ति स्वयं या समाज करता है अथवा दोनों प्रकारों से हमारे मन पर चित्त पर जो छाप पड़ी हुई रहती है उसे संस्कार कहते हैं और संस्कार अच्छे बुरे दोनों होते हैं तो प्रश्न इनका है कि क्या संस्कार चित्त में पहले से विद्यमान रहते हैं यदि आज की स्थिति में हम देखें तो पहले से विद्यमान है बहुत से संस्कार हमारे अंदर पहले से विद्यमान है और यदि इस जन्म की स्थिति देखें कि जिस समय कोई बच्चा मनुष्य जन्म लेता है क्या उसके चित्त पर संस्कार पहले से रहते हैं तो वहां भी उत्तर हां में आएगा उस पे उसके चित्त पर भी संस्कार पहले से रहते हैं तो पहले से कहां से रहते हैं पूर्व जन्मों से रहते हैं तो वर्तमान को हम देखें या इस जन्म के प्रारंभ को देखें दोनों जगह उत्तर यह आएगा कि संस्कार पहले से विद्यमान रहते हैं और इस प्रश्न को हम थोड़ा और पीछे ले जाएं कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रलय के बाद में जब सृष्टि प्रारंभ होती है इस पृथ्वी पर मनुष्य पहली बार आता है प्रथम सृष्टि बन रही होती है प्रलय के बाद में प्रथम चित्त दिया हुआ होता है नया चित्त दिया हुआ होता है तो क्या उसमें भी पहले के संस्कार रहते हैं तो उसमें भी रहते हैं कब के प्रलय से पहले की जो सृष्टि चल रही थी उस समय जो हमारे संस्कार थे उससे उस समय के जन्मों के वो संस्कार रहते हैं वो संस्कार परमात्मा डालता है प्रलय के समय जो संस्कार चित्त पर थे अच्छे बुरे दोनों तरह के अब जब पूरी प्रकृति प्रलय को प्राप्त हुई तो चित्त मन भी प्रलय को प्राप्त हो जाता है समाप्त हो जाता है सत्वर स्तंभ में लीन हो जाता है तो जब सत्वर स्तंभ में लीन हो गया चित्त तो अब संस्कार कहां रहेंगे उस चित्त पे तो नहीं रह सकते जैसे कि किसी कागज पर कुछ लिखा हो या स्लेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ हो किसी पत्थर पर कुछ खुदा हुआ हो गुदा हुआ हो लिखावट हो यदि वो कागज ही फाड़ दिया जाए यदि वो स्लेट ही तोड़ दी जाए चूरे चूरे कर दी जाए जिस पत्थर पर खुदा हुआ है जिस शिलालेख पर उस शिलालेख को ही चूर्ण चूर्ण कर दिया जाए तो संस्कार कहा वो जो लिखा हुआ है वो कहा गया समाप्त हो गया तो ऐसे ही प्रलयावस्था में चित्त पर प्रलयावस्था जब प्रारंभ हुई हमारा अंतिम जन्म था उस उस सृष्टि का उस समय जो चित्त पर संस्कार थे वो भी समाप्त होने चाहिए क्योंकि चित्त नष्ट हो गया संस्कारों का जो आश्रय आधार चित्त था वो नष्ट हुआ तो संस्कार भी नष्ट हो गए तो वहां नष्ट हो जाते हैं लेकिन वो परमात्मा के ज्ञान में रहते हैं परमात्मा सर्वज्ञ है वो जानता है किस आत्मा के कैसे कैसे संस्कार थे प्रलयावस्था के बाद में जब पुनः नई सृष्टि प्रारंभ होती है और परमात्मा प्रत्येक जीव के लिए उसका सूक्ष्म शरीर देता है उस उसमें मन चित्त भी विद्यमान रहता है तो चूंकि ईश्वर न्यायकारी है इसलिए जैसे संस्कार पिछली सृष्टि में थे वैसे के वैसे संस्कार डाल के बना करके उस उसी आत्मा को वो चित्त वापस देता है तो ये जो तीसरी अवस्था मैंने बताई सृष्टि के प्रारंभ में जो हमें चित्त मिलता है क्या उसमें भी पहले के संस्कार होते हैं तो हाँ उसमें भी पहले से विद्यमान रहते हैं उससे पहले की सृष्टि उससे पहले की सृष्टि उससे पहले का जन्म जब से चल रहा है तो आपका प्रश्न है क्या संस्कार चित्त में पहले से विद्यमान रहते हैं तो रहते हैं अब इससे जुड़ा एक प्रश्न और है कि क्या कभी कोई स्थिति ऐसी भी आती है जब हमें चित्त तो मिला लेकिन उस चित्त में पहले के संस्कार कुछ नहीं है क्या ऐसी भी कोई स्थिति होती है तो ऐसी भी होती है वो एक ही स्थिति है मुक्ति से जो आत्माएं लौटती हैं उनके चित्त बिल्कुल संस्कारहीन होते हैं नए होते हैं बिल्कुल शुद्ध रहते हैं अच्छा बुरा कोई संस्कार नहीं पिछला मुक्ति से जो आत्मा लौटी है वो सृष्टि के बीच में कभी भी आ सकती है क्योंकि सृष्टि के जिस काल में वो मुक्ति में गई थी तो मुक्ति का पूरा काल सौ ब्रह्म वर्ष कब पूरे होंगे उसके वही होंगे बीच में कभी जब भी वो गई थी तो वो मुक्ति से लौटेगी भी कब सृष्टि के बीच में ही कहीं पर लौटेगी तो जब मुक्तात्मा प्रथम बार जन्म लेती है उस समय जो सूक्ष्म शरीर ईश्वर देता है उसे उसका जो चित्त मन होते हैं उस पर कोई संस्कार नहीं होता है पिछला कोई संस्कार नहीं होता है जो चित्त और मन है वो शुद्ध शुद्ध का मतलब उसमें कोई संस्कार नहीं होता है अब जब वो जन्म लेता है और फिर देखता है सुनता है यहां से फिर संस्कार डलने प्रारंभ हो जाते हैं तो प्रश्न का जो अगला भाग है कि क्या इनका बीजारोपण व्यक्ति स्वयं करता है हाँ संस्कारों का प्रारंभ जब चित्त में पहली बार संस्कार डलने होते हैं डलते हैं तब भी हम ही डालते हैं हमारे कारण से ही डलते हैं और जो अभी की स्थितियां चल रही हैं पिछले संस्कार भी हमारे चित्त पर हैं अब भी हम अपने चित्त पर नए नए संस्कार डालते हैं डाल सकते हैं और पुराने संस्कार हटा भी सकते हैं हम कुछ भी करते हैं देखते हैं सुनते हैं चखते हैं विचारते हैं स्मृति करते हैं कोई भी विचार हमारे मन पे आता है तो साथ में उसका संस्कार पड़ता जाता है कुछ भी वृत्ति होगी विचार होगा चाहे देखने सुनने से कैसे भी हो उसका संस्कार अवश्य पड़ता है संस्कार हमारे चित्त पर प्रतिक्षण डलते रहते हैं तो एक तरह से हम ही अपने पर संस्कार डाल रहे होते हैं यद्यपि हमें पता नहीं होता है कि ऐसे संस्कार डलते हैं क्या है और कैसे डाले जाते हैं जैसे किसी स्लेट पर कोई लिखता है वो तो ज्ञानपूर्वक लिखता है कि हाँ मैं इस पे अब ये लिख रहा हूं लेकिन हमें तो नहीं पता होता ये अपने आप बनते जाते हैं ईश्वर की ऐसी ही व्यवस्था है जैसे जैसे हम विचार करते हैं वैसे वैसे संस्कार हम पे पड़ते हैं जैसा हम देखते हैं अच्छा बुरा वैसा संस्कार पड़ते हैं जैसे कैमरे के सामने जो आएगा उसकी छाप उस पर पड़ती चली जाएगी टेप रिकॉर्डर है उसमें आवाज रिकॉर्ड हो रही है तो जो जो आवाज होगी वैसी की वैसी रिकॉर्ड होती जाएगी संचित होती जाएगी जैसी भी है हम व्यायाम करते हैं उसका संस्कार पड़ता है हम तप करते हैं उसका संस्कार पड़ता है हम संयम से रहते हैं उसका संस्कार पड़ता है हम असंयमी रहते हैं उसका संस्कार पड़ता है हम ध्यान उपासना करते हैं उसका संस्कार पड़ता है हम उत्साह में रहते हैं उसका संस्कार पड़ता है हम आलस्य में रहते हैं उसका संस्कार पड़ता है जो भी भाव हो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष जो भी है उस सब का संस्कार हमारे पर पड़ता है करने मात्र का ही नहीं करने का भी बोलने का भी और विचारने का भी सबका संस्कार मन पर पड़ता है तो दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं कि ये बीजारोपण हम स्वयं ही कर रहे हैं क्योंकि हम करते हैं हम बोलते हैं हम विचारते हैं हम स्वयं करते हैं चूंकि हम स्वयं करते हैं इसलिए संस्कार भी हम ही डाल रहे होते हैं इसलिए हम ही अपने संस्कारों के लिए उत्तरदायी हैं तो चित्त में जो संस्कार हैं ये निमित्त से आते हैं उत्पन्न होते हैं बनते हैं चित्त पर स्वाभाविक नहीं होते तो इसके साथ साथ साधना से जुड़ी भी बात है कि कोई भी साधक ये ना सोच ले कि मेरे मन पर जो संस्कार हैं ये तो हटे ही नहीं सकते हटेंगे ही नहीं मेरे तो बचपन से है ऐसे ही है मेरे तो अथवा कोई दूसरा व्यक्ति इसके तो ऐसे ही संस्कार हैं ये तो कभी हट ही नहीं सकते इसका तो स्वभाव ही ऐसा है वर्षों से जानता हूं इसको ये जो सोच करते हैं ये जो सोच होता है ये गलत है जो चीज निमित्त से आई है वो अनित्य है वो हट भी सकती है हमें यह समझना है कि मन पर जो संस्कार डले हैं ये हमने डाले हैं हमारे कारण से डले हैं निमित्त से डले हैं इनकी उत्पत्ति हुई है इनका आरंभ है तो जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश भी होगा जिसका आरंभ है उसकी समाप्ति भी होगी उसकी समाप्ति भी हो सकती है कब जब हम उसके विपरीत अच्छे संस्कार डालेंगे बुरे के प्रति अच्छे संस्कार डालेंगे तो बुरे हट जाएंगे और अच्छे संस्कारों के विपरीत यदि बुरे संस्कार डालने लगेंगे तो अच्छे संस्कार क्षीण हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने संस्कारों को कैसा बनाएं और साधना यही है मन पर जो सकाम संस्कार हैं अधर्म के संस्कार हैं उनको दूर करते हैं पहले अधर्म के संस्कारों को दूर करते हैं सकाम शुभ कर्म करते हैं तो वो अच्छे संस्कार आते हैं उसके बाद उन सकाम संस्कारों को हम निष्काम बना देते हैं लौकिक सुखों की कामना से रहित बना देते हैं ये साधना का क्रम है योगाभ्यास करते समय ये संस्कारों का परिवर्तन चलता रहता है योग दर्शन में इस प्रसंग में काफी बातें आई हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए हमने अगर ये समझ लिया है कि संस्कार डाले जाते हैं तो संस्कार समाप्त भी हो सकते हैं कितने भी गहरे हों बुरे से बुरे संस्कार हों क्षीण हो जाएंगे लगे रहना होता है कठोर होते हैं गहरे होते हैं तो देर लगती है पुरुषार्थ कम होता है तो देरी से दूर होते हैं लेकिन जाएंगे अवश्य हमारा एक छोटा सा भी प्रयत्न कर्म विचार वाणी एक अपना संस्कार छोड़ के जाता है तो साधना का जो भी संस्कार होगा हम थोड़ी देर भी अच्छा विचारेंगे थोड़ी देर भी स्वाध्याय करेंगे थोड़ी देर भी ध्यान करेंगे तो उसका संस्कार भी अवश्य पड़ेगा यानी हमारा कोई भी प्रयत्न साधना का अच्छे कर्म का शुभ कर्म का धर्म के मार्ग पर चलने का संस्कारों की दृष्टि से व्यर्थ नहीं जाता है पढ़ता ही है कितना भी पढ़े अवश्य पढ़ेगा तो संस्कार का बीजारोपण हम करते हैं फिर उन्होंने लिखा क्या समाज करता है समाज सीधे सीधे तो नहीं कर सकता समाज भी करता है तो उसमें हम भी करता जुड़ जाते हैं इसलिए हम अपने पे संस्कार डाल लेते हैं लेकिन हाँ स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि समाज भी हमारे पे संस्कार डालता है दूसरे व्यक्ति भी संस्कार डालते हैं समाज में यदि अच्छी स्थितियां हैं परिवेश अच्छा है तो हमारे पे अच्छे संस्कार पड़ते हैं माता पिता ने अच्छा वातावरण बनाया आश्रम में गुरुकुल में अच्छा वातावरण है अच्छी बातें सुनते हैं अच्छा जीवन रहता है तो अच्छे संस्कार पड़ेंगे और उन छोटे बच्चों को तो नहीं पता है कि हमारे पे हम कैसे संस्कार डालें कैसे नहीं डालें वो तो अबोध है तो बड़े माता पिता गुरुजन महापुरुष ये ऐसा प्रयास करते हैं ऐसा बोलते हैं करवाते हैं करते हैं कि उन पर अच्छे संस्कार पड़ते हैं तो समाज भी हमारे पे डालता है लेकिन इन सब में वो व्यक्ति है यदि वो देख नहीं रहा हो सुन नहीं रहा हो विचार नहीं कर रहा हो तो संस्कार नहीं पड़ेंगे उसमें उस व्यक्ति की भी सहभागिता होती है तो इस दृष्टि से समाज भी हमारे पे संस्कार डालता है और हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि चित्त हमारा है मन हमारा है कौन व्यक्ति हमारे पे कैसा संस्कार डाल रहा है कैसा प्रभाव डाल रहा है यह हमें सावचेत रहना चाहिए कई बार कोई विपरीत प्रभाव ऐसा आ जाए ऐसा संस्कार पड़ जाए कि अंदर सारे को खराब कर दे जैसे विषाणु आजकल कहे जाते हैं वायरस रोग के हों या कंप्यूटर के लिए विशेष रूप से देख लीजिए तो कंप्यूटर में एक वायरस घुस जाता है तो वो बहुत सारा खराब कर देता है कोई कोई पूरे को ठप कर देगा तंत्र को एक छोटा सा गया वायरस अंदर गया बदल देगा सारा परिवर्तित कर देगा तो एंटीवायरस लगाना पड़ेगा रोक करना पड़ेगा किसका उत्तरदायित्व है उसका उत्तरदायित्व है जिसका अपना कंप्यूटर है तो हमारा ये कंप्यूटर है मस्तिष्क इसमें कोई वायरस ना घुस जाए इसके लिए रोक कौन लगाएगा हमें ही लगानी होगी एंटीवायरस लाना होगा एंटीवायरस क्या है प्रमाण प्रमाण से की कसौटी से हम किसी चीज को ग्रहण करेंगे ये उचित है अनुचित है उचित है जाने देंगे चलनिया लगाएंगे वो एंटीवायरस एंटीवायरस लगाएंगे चलनियां रहेंगी कि ये चीज आने देनी है ये नहीं आने देनी है मेरे को अंदर ये चीज आएगी तो ये गलत रूप में आएगी कि चोरी है तो चोरी चोरी के रूप में आएगी कि ये चोरी है गलत है वो चोरी करने के रूप में अच्छे रूप में नहीं आएगी गलत बात गलत रूप में आएगी सही बात सही रूप में आएगी जो चीज जैसी है उसी नाम से आएगी उल्टा नहीं होने दूंगा तो व्यक्ति अपने संस्कारों के प्रति जागरूक होता है नहीं तो अनजाने में समाज जैसा दिखाता है जैसा प्रस्तुत करता है वैसा संस्कार हमारे पे पड़ता है और जैसा संस्कार पड़ता है वैसे ही हम बन जाते हैं अब जैसा दिखाया जाता है ऐसे कपड़े पहनो ऐसे रहो खाओ पियो जैसा आजकल चलता है तो बच्चे उसको देखते हैं तो वैसे ही करने लग जाते हैं जाने या अनजाने विज्ञापनों के द्वारा जो मन पे संस्कार पड़ता है कि ये साबुन या ये चॉकलेट तो बच्चा जब बाजार जाएगा तो उसको वही दिखाई देगा वो सहजता से वही मांग लेता है ये तो क्योंकि इसको फला विशिष्ट व्यक्ति दिखाता है उसके मन पे संस्कार पड़ा है उसको पहचान लेगा उसको ले लेगा तो दुनिया संस्कार डालती है ये सारा प्रयास होता है और जब हम उससे रंग जाते हैं तो वैसा ही देखने सुनने लगते हैं और वैसा ही करने लगते हैं इसलिए अपने संस्कारों के प्रति हमें स्वयं बहुत सावधानी रखनी चाहिए बहुत उत्तरदायित्व तो समझना चाहिए अगला प्रश्न लेते हैं इसमें किसी को पूछना है कुछ बोलिए मुक्ति से पहले चूंकि संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं योगी संस्कारों को दग्ध बीज कर देता है समाप्त कर देता है तो इसलिए वो संस्कार अब आगे नहीं जाते कोई ये सोचे कि मैंने योगी बन गया योग के संस्कार हैं अब मुक्ति के बाद जब मैं आऊंगा तो मैं योगी बन करके ही आऊंगा क्योंकि मैं तो बहुत पवित्र आत्मा हो गया था चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया था शुद्ध ज्ञान आ गया था मुक्ति से पहले का मुक्ति के बाद भी वो ही मिलेगा ऐसा नहीं है मुक्ति के बाद का नया जीवन है कई लोग ऐसा सोचते हैं इतना पवित्र आत्मा समाधि लग गई परमात्मा का साक्षात्कार हो गया और मुक्ति में रहा और मुक्ति में रहने के बाद में अब आया है तो वो तो एकदम बहुत अच्छा आएगा शुद्ध ज्ञान से युक्त आएगा ऐसा नहीं है और बिल्कुल नया है नई स्लेट है नए सिरे से लिखना है उसमें हमें अच्छा बुरा जो हम लिखेंगे जो उस पर करेंगे मतलब, तो अभी भी नष्ट होते रहते हैं बनते रहते हैं नष्ट होते रहते हैं क्षीण होते रहते हैं प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार दग्ध बीज विभिन्न अवस्थाएं हैं होते रहते हैं ये अंदर कमजोर होते रहते हैं क्षीण होते रहते हैं समाप्त होते रहते हैं और मुक्ति से पहले साधक उनको दग्धबीज कर देता है अविद्या के संस्कारों को और जो विद्या के संस्कार हैं शुद्ध ज्ञान के संस्कार हैं वो तो मुक्ति में जाने तक रहते हैं उसको चिंता की भी बात नहीं है समाधि जन्य संस्कार रहता है वो हमारे लिए बाधक नहीं है वो बने रहते हैं चलते रहते हैं सत्यवत जी अच्छा, जैसे मुक्ति के बाद जीवात्मा फिर पुनः शरीर धारण करता है हम्म। तो अपने घर में कोई संस्कार नहीं होते तो वो फिर माता का दूध दूध पान कैसे करेगा या रोएगा कैसे इनका प्रश्न है कि मुक्ति से लौटने के बाद में जो आएगा तो वो आते ही कैसे रोएगा दुग्धपान कैसे करेगा ये चीज तो इतना तो जीने के लिए ईश्वर बना करके देता है ठीक है वो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी कष्ट होगा तो रोएगा ही वो दुख होगा तो उसके लिए किसी संस्कार की जरूरत नहीं है कुछ नहीं वो अपने आप बोलेगा चिल्लाना सिखाए नहीं ईश्वरीय व्यवस्था से ये चीजें तो उसके जीवन के लिए जो आवश्यक है वो तो अपने आप चलेंगी और उसको आप संस्कार के रूप में भी ना कहें तो ठीक है वो तो ऐसा ही होगा उसको जन्म लेगा जब सांस घुटन होगी उसको जन्म लेने के बाद में तो रोना तो होगा ही वो रोता है तभी तो सांस लेता है रोया यानी सांस ले लिया जैसे ही बच्चा रोने लग जाता है सब बहुत खुश होते हैं और बच्चा रोता अगर नहीं है जन्म लेने के बाद में तो सलवटें आ जाती है दिमाग में रो नहीं रहा है उसको उल्टा लटकाते हैं फिर बच्चे को उल्टा कर देते हैं पैर ऊपर और सिर नीचे जल्दी रोए उसको मारते भी हैं थोड़ा सा ताकि उसको दुख हो रोए क्यों करते हैं ऐसा ताकि उसकी सांस चालू हो जाए नहीं तो मर जाएगा वो नहीं तो मर जाएगा ऐसा होता है ऐसा किया जाता है वो रोता है तो सब प्रसन्न होता है कि हाँ अब ये जीवित रहेगा सांस उसकी चालू हो जाती है ठीक है हाँ ये जो स्वभावता होता है कुछ लोग इसको मोटे तौर पे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि यदि पहला जन्म नहीं होता तो जन्म लेते ही वो कैसे दुग्धपान करता ये आवश्यक नहीं है ये मोटे तौर पर कथन तर्क किया जाता है लोग मानते भी हैं लेकिन ये मुक्ति से लौटेगा उसके लिए तो नहीं घटेगा एक पिछले संस्कारों से संबंधित नहीं लेकिन एक प्रयोग परीक्षण था तो डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी किस पे मैंने देखा था कि एक विशेष प्रकार का सांप था वो एक विशेष प्राणी के आने पर यूं लोट जाता था उल्टा हो जाता था तो उन्होंने उस सांप की प्रवृत्ति देखी ऐसा क्यों करता है तो वैसे वो उसकी सुरक्षा का उपाय था बचाव का उपाय था कि ऐसा करके वो अपने को मरा हुआ दिखाता है या ऐसा दिखता है जिससे कि वो दूसरा जो उसका शिकारी है वो चला जाए उसकी अपनी सुरक्षा की एक पद्धति थी ताकि इसके जीवन में ऐसा अनुभव आया होगा ऐसा अनुभव आया होगा इसलिए ऐसा करता होगा फिर उन्होंने देखा इनके जो नवजात बच्चे हैं क्योंकि कैमरे की निगरानी में थे वो पूरे उनके जो नवजात बच्चे थे छोटे छोटे जिन्होंने उस दूसरे जानवर को कभी देखा नहीं था उनका सामना नहीं हुआ था लेकिन जैसे ही वो पहली बार आए वो भी वैसा ही करने लगे वैसे ही लौट गए उनको उसके लिए सांप ने सिखाया नहीं माँ बाप ने उन्होंने कभी पहले ऐसा अनुभव नहीं किया किसी को वैसा करते हुए भी नहीं देखा माता पिता को वैसा करते हुए नहीं देखा कि वो सीखे हों लेकिन जन्मजात थे और पहला अवसर था और वो करने लग गए तो वो संस्कारों को तो उस तरह नहीं मानते लेकिन उनका कहना था कि ये इनके जीन में ही है जन्मत ही प्राप्त है यानी स्वभावतः है ये ये गुण स्वभावतः आते हैं और मनुष्य की छोड़ो और भी प्राणी बनते हैं इतने सारे विविध प्राणी हैं सब जने सब बने हो यह आवश्यक तो नहीं है ना लेकिन सबके अपने अपने जन्म लेते ही जीवन जीने के तरीके हैं सांस लेने के चलने के खाने पीने के वो हर बार पहले ही सीखा हो तभी वो कर सके ऐसा तो नहीं हो सकता कभी ना कभी तो पहली बार हिरण बना होगा कभी ना कभी तो पहली बार गाय का बछड़ा बना होगा कभी ना तो पहली बार सांप बना होगा तो उनके तौर तरीके पहली बार कहां से सीख लिए उसने इन सबका उत्तर यही आएगा कि ईश्वर की व्यवस्था से ऐसा होता है जानकारी है ऐसा का ऐसा मुक्ति से जो लौटी हुई आत्मा है वो जो जन्म लेती है उसमें भी ऐसा मानना चाहिए इसके लिए ये बात नहीं है कि पहले भी वो जन्म ले चुका है ऐसा कहा जाए ये तर्क संगत नहीं है हम्म। हाँ, जिस प्रकार रामदास जी कह रहे थे उनसे फिर प्रतिप्रश्न इस प्रकार किया जा सकता है क्या कोई अपवाद भी मिलता है जो जन्म लेते ही रोता नहीं उनको जबरदस्ती रुलाना पड़ता है तो क्या वो मुक्ति से लौट के आ गए और जिसका संस्कार करके ऐसा नहीं है <laughs> मैं तो नहीं मानता ऐसा नहीं इन्होंने एक सामान्य बात कही है कि लोग ऐसा तर्क देते हैं एक सामान्य बात कही है ठीक है एक छोटा प्रश्न और लेते हैं क्या शिकार करना क्षत्रियों का वेदोक्त धर्म है यदि है तो किस प्रकार के जीवों का क्षत्रियों को शिकार यानी आखेट करने का धर्म है लेकिन आखेट या शिकार का मतलब ये समझना है एक तो वो शिकार होता है जो कि मनोरंजन के लिए किया जाता है ऐसे ही चले गए मार रहे हैं बस अपने मनोरंजन के लिए ये क्षत्रिय का धर्म वेदोक्त नहीं है क्षत्रिय का धर्म क्या है यदि पशु जनता को बाधित करते हों हमारे पालतू पशुओं को मारते हों ले जाते हों उनकी रक्षा के लिए अतिरिक्त पशुओं को मारना उनको हटाना भगाना प्रजा की और प्रजा के पशुओं की रक्षा करना ये क्षत्रिय का कर्तव्य है उसके निमित्त से जो किया जाता है वो हितोक्त है वो किया जा सकता है लेकिन जो पशुओं को मारने के लिए कर रहे हैं उनका मांस खाने के लिए उनका चमड़ा प्राप्त करने के लिए अथवा वैसे ही मनोरंजन के लिए वो उचित नहीं है ठीक है शिकार ही है आखेट का मतलब संस्कृत में आखेट बोलते हैं उसको हिंदी में शिकार बोलते हैं आखेट भी बोलते हैं हिंदी में यही शिक, जो शिकार अर्थ है आपका घोड़ों पे बैठ के जाते हैं वो उसको करते हैं मृगया शब्द भी ठीक है तो अथवा मचान पे बैठ जाते हैं पशु आते हैं फिर उनको ऊपर से बैठ के मारते हैं ये सारी चीजें के अंदर लेकिन जितने भी प्राणी हैं उनको अनावश्यक हमें नहीं मारना चाहिए उनका अपना जीवन चलता रहे लेकिन मनुष्यों की हानि होती हो उनके पशुओं की हानि होती हो तो वहां रोकने का अधिकार है उनको मारने का अधिकार है श्रीवास्तव जी इससे से बिल्कुल शिकायत के लिए नहीं लेकिन ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी में रिसर्च के लिए जो पशु मारे जाते हैं हम्म। उसका जी औषधियों पर औषधियों के अनुसंधान के लिए पशुओं पर पहले प्रयोग किए जाते हैं मनुष्यों से पहले चूहों पे करेंगे खरगोश पे करेंगे बंदर पे सुअर पे ऐसे कुछ प्राणी प्रसिद्ध हैं चूहे होते हैं सफेद वाले ये चूहे नहीं ये तो बहुत उछल कूद करते हैं भाग जाते हैं वो सफेद होते हैं उनको एल्बिनो रेट्स बोलते हैं खरगोश भी खरगोश तो सीधे हैं कुत्तों पे भी करते हैं और बंदर पे करते हैं चिंपाजीज पे करते हैं लेकिन चूहों पे बहुत आयत पे करते हैं और गिनी पिक्स पे जो यानी सुअर होते हैं वो गिनी पिक्स होते हैं जिसके लिए कहते भी हैं कि विदेशी कंपनियां अपनी औषधि को यहां पर ले आती हैं और हमारे को गिनी पिक्स बना रखा है वो अपना परीक्षण हमारे मनुष्यों पे तृतीय तीसरी दुनिया के देश के मनुष्यों पे प्रयोग करते हैं और कितने बड़े बड़े चिकित्सालय शहरों के चमकदार खूब अच्छा पैसा लेंगे और कहेंगे नई दवाई आई है और बहुत विशिष्ट दवाई है पैसे भी खूब लूटेंगे हम सोचेंगे दवाई है और हमको पता नहीं कि हमारे को वो गिनी पिग बना रहे बहुत पैसा आता है इसके लिए डॉक्टरों के पास बहुत पैसा आता है और भारतीय जनता को पता नहीं है कि हम तो इनके परीक्षण के बन रहे हैं कि हमारे पे परीक्षण करके ये अनुसंधान कर रहे हैं दुष्प्रभावों को देख रहे हैं और फिर विदेशों में उसका प्रयोग होगा यानी हम मनुष्यों के साथ भी ऐसा होता है और बड़े शहरों में बहुत होता है ऐसा ये अमानवीय माना जाता है लेकिन होता है ऐसा क्योंकि बड़ी बहुत पैसा मिलता है विदेशी कंपनियों के द्वारा तो गिनी पिक्स भी होते हैं तो इस संदर्भ में मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा था पहले जब मैं एमडी के अंदर था तो मेरी जो औषधि का प्रयोग था वो मरते हुए मनुष्य के लिए था तो मरते हुए मनुष्यों पे तो कैसे प्रयोग करें तो कहा कीजिए पशुओं पे करेंगे चूहों पे करेंगे तो उस समय मेरे मन में ये प्रश्न उठा था इक्यानवे बानवे की बात बोल रहा हूं बीस बाईस साल पहले की बात है तो उस समय मैंने बहुत ग्रंथ देखे थे और मैंने बहुत सारे ऐसे वेद मंत्र देखे उस समय और मेरा जो शोध प्रबंध है थीसिस है उसके प्रारंभ में मैंने उन मंत्रों को दिया भी है कि ये अनुसंधान ऐसा अनुसंधान वेद के विपरीत नहीं है वो मंत्र क्या थे उनका भाव मैं बताता हूं आपको तो उसमें इस तरह था कि नेवला जिस औषधि का प्रयोग करता है उसका हम भी करें अथवा ये प्राणी जिस औषधि का प्रयोग करता है वैसा हम भी करें पक्षियों का औरों का ये प्रयोग आते हैं वहां पर अब सांप के काटने के बाद में नेवला जिस औषधि को खाता है और बच जाता है तो हम उसको देख करके और हम भी प्रयोग करने लग जाते हैं यहां देखो इससे ये लाभ होता है ये खाता है तो ऐसे भी अनुसंधान होते हैं जानते हैं पुराने समय में हमारे यहां आयुर्वेद में एक ये भी प्रश्न उठता था कई जने आलोचना करते थे कुछ कट्टरपंथी भी होते हैं कि मनुष्य की औषधि के लिए पशुओं पर कैसे प्रयोग किया जा सकता है कई जने विरोध करते थे इसका मनुष्यों के लिए तो मनुष्यों पर ही होना चाहिए यह पाश्चात्य संस्कृति है कि पशुओं पर प्रयोग किया जाता है एक बड़ा प्रश्न था वहां पर और जब मैंने अपनी शोध पत्र को प्रस्तुत किया और संस्था में अलग अलग सबको अपना प्रस्तुत करना पड़ता था सब विभाग सब विभाग के छात्र और अध्यापक सब बैठते थे उसमें संस्था के और उसकी आलोचना समालोचना होती थी समाप्ति से पहले होता था तो वहां भी ये प्रश्न कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने वो मेरे को भी प्रश्न किया बोलिए कोई आयुर्वेद का तरीका नहीं है तो मैंने बहुत से प्रमाण ढूंढ रखे थे मनुष्यों के भी ढूंढ रखे थे प्राचीन काल में जो मृत्युदंड प्राप्त मनुष्य होते थे कारागार में उन पर प्रयोग किए जाते थे ये इतिहास बताता है औषधियों का प्रयोग कारागार में स्थित मनुष्यों पर किया जाता था और उससे बहुत सारा ज्ञान होता था तो मनुष्यों पर भी होता था और पशुओं के आधार के लिए मैंने वेद मंत्र बहुत सारे ढूंढ लिए थे तो मैं चूंकि मांसाहारी तो नहीं था शुद्ध शाकाहारी था और ये जीव हत्या भी होगी उसमें बहुत सारे चूहे मरेंगे तो मेरे मन में द्वंद्व भी था पर वेद मंत्रों से होके मैं अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट होके मैंने फिर उसको विषय बनाया अपना और उसका शोध कार्य किया बहुत सारे चूहे मरे इस निमित्त से और मैंने भी मारे बहुत सारे कई तरह से मारा गया उनको अलग अलग सांपों का विष भी दिया गया कोबरा का कोबरा वेनम और दूसरे वाइपर वेनम वाइपर एक सांप है उसका भी दिया अलग अलग ढंग से मारते हैं ये मनुष्यों को कोई रक्त को जमाता है कोई फेफड़े को संकुचित कर देता है तो अलग अलग ढंग से मरते हुए व्यक्तियों पर उस औषधि का क्या प्रभाव होता है ये मेरे अनुसंधान का विषय था और एक स्ट्रिक्निन करके भी एक औषधि आती है उससे भी संकोच होकर के मरता है व्यक्ति उसको देने पे क्या होता है ऐसा प्रयोग था और उसका औषधि का यकृत पे प्रभाव होता है नहीं होता है तो उसमें पारा भी था सोना भी था स्वर्ण भस्म थी पारा था गंधक थी तो उसका हमारे यकृत पे गुर्दों पर दुष्प्रभाव आता है नहीं आता है ये भी परीक्षण करना था तो उसके लिए उन चूहों को मारा जाता था मार के उनका यकृत निकालते थे यकृत की स्लाइड बनाते थे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे कि स्लाइड पे यहां पर कुछ डिजनरेशन या हानि या दोष हुआ है या नहीं हुआ है इसी तरह गुर्दों को निकालते थे उनके मार करके ही तो निकालेंगे फिर गुर्दों को काटते थे स्लाइड बनाते थे उसकी पतली पतली झिल्ली फिर उसको देखते थे तो ये सारे हैं उमिर थी इसमें चित्र भी लगे हुए हैं तो ये चीजें मानव के हित के लिए होने से और ये अनुसंधान किया जा सकता है इसको मैं आज भी उचित मानता हूं कुछ प्राणीवादी उसको गलत मानते हैं इसमें प्रश्न कुछ नैतिक प्रश्न भी जुड़े हुए हैं और कई जने बहुत प्रमुखता से इस प्रश्न को उठाते हैं कि इन प्राणियों को मारने का हमारे को क्या अधिकार है सामान्य भी बोलते हैं कि जिसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते उसको मारने का हमारे को क्या अधिकार है ठीक है ये भावना के रूप में लेकिन ये इतर प्राणी मनुष्यों के लिए हैं ये हम सृष्टि से समझ सकते हैं शास्त्र भी बोलते हैं अब है कि हम इनको यूं मारेंगे तो उनके इसको दुख होगा उनके साथ अन्याय होगा तो हमें पाप लगना चाहिए उनके से उनको हमने दुख दे दिया तो ये जो इतर प्राणी हैं इनको जो हमारे या अन्यों के द्वारा जितना दुख होता है उतना उतना उनका पाप कर्माशय घट जाता है उनकी व्यवस्था ही ऐसी है परमात्मा के द्वारा कीड़े मकोड़े मरते हैं करते हैं जो भी कुछ उनको बाधा होती है उतना उतना उनका कर्माशय घट जाता है वहां निश्चित नहीं होता है कि इसके ऊपर मकोड़े पे पैर रखा ही जाना है इसी समय में ऐसे ही टांग टूटनी है ऐसा निश्चित नहीं होता है उनका कर्माशय लेकिन जब जिसके साथ जो हो जाता है उतना उतना उनका कर्माशय क्षीण हो जाता है तो मैं ये भी मान के चलता था और आज थोड़ा ज्यादा उसको अच्छी तरह समझता हूं उस समय मैं उतना नहीं समझता था कि इसमें पाप नहीं है इतना तो मैंने उस समय अपने को संतुष्ट कर लिया था कि इसमें पाप नहीं है तो अभी भी मैं ऐसा मानता हूं लेकिन एक सीमित मात्रा में होना चाहिए इसको अति नहीं होनी चाहिए अति नहीं होनी चाहिए उचित रीति से ये किया जाता है तो मनुष्यों के लिए होने से किसी रोग विशेष से बचाने के लिए होने से अनुसंधान के लिए होने से इसको उतने अंश में स्वीकार किया जा सकता है और यदि इसको हम पूरा ना भी माने इसको मिश्रित कर्म भी माने तो कुछ इसमें गलत है तो पुण्य अधिक है इस दृष्टि से मिश्रित होते हुए भी इसमें पुण्य अधिक है ये मान करके किया जाता है कुछ चीजें मिश्रित कर्म होते हैं तो भी यदि पुण्य उसमें अधिक है तो किया जा सकता है पाप कम हो लेकिन ऐसे मिश्रित कर्म जिनमें पाप अधिक हो पुण्य कम हो उनको नहीं करना चाहिए ठीक है प्रतिनिधि जैसे आचार्य मीमांसा में आया था राजकुमारों को युद्ध नीति चाल चलन व्यूहार सिखाने के लिए अक्षय कुमार दिव्या होते हुए भी जुआ सिखाया जाता था वो खेलने का विधान था ऐसे आखेट में भी उसको कभी युद्ध करना पड़े तो मारना पड़े उसको भय ना हो शूरवीरता पराक्रम आदि लक्षणों के अंदर बढ़ाने के लिए आ, का भी माना जा सकता है बिल्कुल माना जा सकता है और कोई ठीक है इसको इतना इतना ही रखते हैं हम्म। प्रणाम धनी